और बिलाशुबा यकीनन हमने जिन्नों और इंसानों में से अक्सर को दोजख के लिए पैदा किया है उनके लिए दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं और उनके लिए आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं और उनके लिए कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं ये लोग जानवरों जैसे हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं यही लोग गाफिल हैं